नारी बचन सुने बिसिख समान सभा गय उठे होत बिहाना बैठ जाए सिंहासन फूले अति अभिमान त्रास सब भू रामयं गदहि बुलावा आचरणप कज शिर ना अति आदर समीप बैठारी बोले कृपाल खरारी स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले बाल तनय कोतिकयति तनय मोहि तात सत्य कहु पूच्छोहि रावण जातु धन कुलचीका भुजबल अतुल जासु जगलिका तासु मुकुट तुम चार चलायऊ कहु तात कवनी विधि पाय सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी मुकुट न हो ये भूप गुणचारी हे बाली के पुत्र मुझे बड़ा कौतुक है हे तात इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ सत्य कहना जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है उसके चार मुकुट तुमने फेंके हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया अंगद ने कहा हे सर्वज्ञ हे शरणागत को सुख देने वाले सुनिए वे मुकुट नहीं हैं वे तो राजा के चार गुण हैं राम दंड विभेदा बस बसहे नाथ कह बेदा नीति धर्म के चरण सुहाए असजय जाए नाथ पहि आए हे नाथ वेद कहते हैं कि साम दाम दंड भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं किंतु रावण में धर्म का अभाव है ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश दस शीष तेह परिहर गुण आए सुनहु को सलाधीन परम चतुरता श्रवण सुने बिहसे राम उदार समाचार पुन सब कहे गढ़ के बाली कुमार दस शेष रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में हैं इसलिए हे कौशलराज सुनिए वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं अंगद की परम चतुरतापूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे फिर बालीपुत्र ने किले की लंका के सब समाचार कहे समान चार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए लंका बाके चार दुआरा कही विधि लागिय करह विचार तब कपि चरि भीषण हृदय दिन कर कुलभूषण मंत्र मन्त्र चारियनी कपी कट कुबना जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा लंका के चार बड़े विकट दरवाजे हैं उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो तब वानरराज सुग्रीव रिक्षपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया वानरों की सेना के चार दल बनाए जथा जोग सेनापति की जूथ सकल बोली तबलीन है प्रभु प्रताप कहे सब समझाए सुन कपि सिंह नाद करिधाये हरसित राम चरण सिर नावहे गह गिर शिखर वीर सब धावहे गर जह तर जह भालु पीसा जय रघुबीर शैलाधीशा और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए फिर सब यूथप पतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जन करके दौड़े वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गिरस्ते और ललकारते हैं जानत परम दुर्ग तिलंका प्रभु प्रताप कपे चले घटा टोप करे दे सुघेरे मुख ही निशान बजावहि भेरी लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजेय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर दे मुँह से ही डंके और भेरी बजाने लगे जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गर्जहि सिंहनाद कपे भालु शिव महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय लक्ष्मण जी की जय वानरराज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे